आईआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम दारा शिको मुगल इतिहास का एक भूला बिसरा शहजादा हमारी इस ऐतिहासिक दर्द भरी दुखांत कहानी का नायक है दारा शिकोह ताजमहल की तामीर करने वाले बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े शहजादे दारा शिकोह मुगल सल्तनत पर आधी सदी तक राज करने वाले बादशाह औरंगजेब के सबसे बड़े भाई दारा शिकोह और इन सब से ऊपर एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु इंसान दारा शिको ये खोजी फकीर मोहम्मद दारा शिको जब कश्मीर पहुंचा अनेक महान ग्रंथों के ज्ञान ने उसकी आंखें खोल दी उसने पाया कि पाक कुरान हो ईसाइयों की किताबें मोजा हो या चारों वेद और उपनिषद सबका ईश्वर एक है कई इतिहासकारों का मत है कि अपने तीसरे और महत्वाकांक्षी भाई औरंगजेब की जगह अगर तख्त का असली वारिस दारा शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह बनता तो वो दूसरा अकबर आजम होता और हिंदुस्तान की तहजीबी तकदीर और तस्वीर कुछ और ही होती मौला मेरे आका आज हम मुग़ल सल्तनत के शहजादा खुर्रम के हैसियत से नहीं आए हैं आज तेरे दर पर एक गरीब बाप सजदा करने आया है मेरे गरीब नवाज तेरी रहमत से हमें प्यारी प्यारी बेटियों का बाप बनना नसीब हुआ मेरे आका इस गरीब बाप को एक बेटे से भी नवाज दे हमें सल्तनत के लिए एक वारिस दे दे एक वारिस दे दे मेरे मौला एक वारिस मुबारक मुबारक हो हो शहजादा खुर्रम की बड़ी बेगम जहांगीर के पोते ने पुश्ते सल्तनत में अपना कदम रख लिया है मुबारक इस प्यारे से बेटे का नाम रखा गया दारा शिको फारसी में दारा का मतलब है आलीशान नन्हे सुल्तान मोहम्मद दारा शिकोह की शिक्षा की जिम्मेदारी कई उस्तादों को सौंपी गई शाह मुहिबुल्ला शाह दिलरुबा मोहम्मद लिसानुल्ला के अलावा शायरी और इतिहास सिखाते थे मुल्ला लतीफ सुल्तानपुरी फलसफा जिसे फिलॉसफी और दर्शन भी कहते हैं यह पढ़ाते थे अब्दुल रशीद देहलवी फारसी भाषा और नस्तालीक लिखाई यानी कैलीग्राफी सिखाते थे उस्ताद मीरक शेख इस तरह दारा की संगीत नृत्य कला भाषा और दर्शन की शिक्षा साथ साथ होने लगी आपकी कलम से तो एक एक हर्फ कितना अच्छा निकल कर आ रहा है लाइए हम भी कोशिश करके देखते हैं हाँ ये लीजिए जी अलिफ बे माशाल्लाह बेटा हुजूर आप तो हर हर्फ को तस्वीर बनाते जा रहे हैं हौसला अफजाई का शुक्रिया उस्ताद सुल्तानपुरी वो आप अक्सर क्या गाते हैं बाबा फरीद का दोहा आज फिर से तो सुनाइए अच्छा अच्छा तो सुनेंगे नौशा मियाँ सुनिए फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना अपनड़े गिरिवान में अपनड़े गिरिवान वाह वाह बहुत बहुत खूब बहुत उम्दा शुक्रिया हम खुश नसीब हैं कि हमें उस्ताद सुल्तानपुरी से मौसीकी सीखने का मौका मिला और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं जनाब अब्दुल रशीद दहेलवी साहब कि आपने हमें अपना शागिर्द कबूल किया क्या बात करते हैं बेटा हुजूर शुक्र करो उस परवरदिगार का क्योंकि सारी सलाहियतें उसी की बख्शी हुई हैं और उसी ने तो सारा जहान बनाया है ये सारा जहान अल्लाह की मर्जी से ही चलता है जी लेकिन हमने अपनी कनीज को अपने नन्हे बेटे से कहते हुए सुना था कि दुनिया को चलाने वाला भगवान है लेकिन आपने और अब्बू ने बताया कि जहान अल्लाह की मर्जी से चलता है बेटा वो कनीज हिंदू रही होगी जबकि हम मुसलमान हैं तो क्या मज़हब अलग होने से खुदा अलग हो जाता है क्या हमारी कनीज का भगवान कोई और है और हमारा अल्लाह कोई और बेटा वो, वो बेटा वो दरअसल हर मजहब के मुताबिक मालिक का नाम जरूर बदल जाता है यही यही तो हम कहना चाहते थे कि खुदा कहो या भगवान सबका मालिक एक है दारा इसी इंसानियत और सर्वधर्म समभाव की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता रहा बा अदब बा मुलाहिजा होशियार शहजादाए शाहजहां नूर हिंदोस्ता पादशाहजादा बुजुर्ग जलालुल कादिर सुल्तान मोहम्मद दारा शिकोह शाह बुलंद इकबाल अपनी बेगम नाजरा करीमुन्निसा के साथ तशरीफ ला रहे हैं ये थे दारा शिको सियाह शाहजहानी दाढ़ी ऊंचा कद सुडौल शरीर बाजुओं पर बंधे जोशन के बीचों बीच संस्कृत में ब्रह्म का लफ्ज खुदा था कमर बंद के पट्टे के बीच में शिव की मूर्ति और अलमास की आरसी में शिव की तस्वीर खुदी थी दाहिने हाथ की पहली उंगली में अशरफी के बराबर अंगूठी जिस पर संस्कृत में प्रभु शब्द खुदा हुआ था योगियों और संतों मंदिर और मस्जिद कुरान और उपनिषद का एक सा सम्मान करने वाला यह अजीम इंसान था दारा शिकोह कट्टरपंथी दरबारियों और औरंगजेब की दृष्टि में ऐसा धर्मविहीन व्यक्ति सल्तनत का वारिस और अधिकारी नहीं हो सकता था औरंगजेब अपनी ये शिकायतें अक्सर शाहजहां से करता दारा अब्बा हुजूर औरंगजेब आलमपना आज रूबरू बात हो जाए हमारी समझ में नहीं आता औरंगजेब कि आपको दारा से इतनी चिढ़ क्यों है आपको हिंदुस्तान के होने वाले शहनशाह के साथ तमीज से पेश आना चाहिए आलम पना अब्बा हुजूर हम अपने बड़े भाई हुजूर दारा की इज्जत करते हैं लेकिन आज हम यह कहने को मजबूर हैं कि हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह अपने धर्म गर्म से मुगलियान की तोहीन कर रहा है मुगलियान जिस पर तैमूर और बाबर ने इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया था औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का वजूद फिरका परस्ती पर कायम नहीं है बदबा दारा मोहब्बत और रवादारी के उसूलों पर कायम है जिसकी वजह से तुम्हारे मरहूम परदादा अकबर आजम कहलाए बाबा बाबा हजरत से इल्तिजा है कि औरंगजेब की बदजबानी को नादानी समझकर उसे माफ कर दिया जाए हम कैसे माफ कर दें दारा कैसे औरंगजेब की बातों से बगावत की बू आती है इसने इसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को धमकी दी है इसे हम कभी माफ नहीं कर सकते आलीजा मैं बागी नहीं हूं मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि भाईजान दारा शिकोह पांचों वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते और खामोश हम अपने चश्मो चराग के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहते आप जा सकते हैं जो हुक्म वालिद बुजुर्गवान <laughs> खुदा करे आपका और हमारे अजीज बिरादर का इकबाल बुलंद हो हमारे अभी बहुत से काम बाकी हैं हम्म? हम चलते हैं भाई भाई औरंगजेब जहां पर जहां पर हमें भी इजाजत दें भाई भाई सुने तो भाई ये थे दारा शिकोह सिवाय जुमे की नमाज के और नमाज वो नहीं पढ़ते थे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर ला सन 1640 ईस्वी में वो लाहौर के कादरी सूफी संत मियाँ मीर के शिष्य बन गए इसके अलावा सिख गुरुओं गुरु नानक और छठे गुरु गुरु हर राय का भी उन पर बहुत असर था हक परवर हक के गुरु करता हर दरवेश गुरु करता हर राय सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय हक परवर हक केश गुरु करता हर राय तैतालीस वर्षीय दाराशी को पंजाब और आसपास के सूबों के गवर्नर थे और अपनी दरिया दिली और रहम दिली के कारण प्रजा के बहुत चहेते थे उनसे छोटा भाई शुजा जो बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था और सबसे छोटा भाई जो गुजरात और कुछ अन्य पश्चिमी सूबों का गवर्नर था ये दोनों अय्याश महाउन्मादी और बेवकूफ थे 39 वर्षीय औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था वो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता था और अपने मजहब का पक्का था एक तरफ था षड्यंत्रकारी सत्ता का लालची औरंगजेब और दूसरी ओर फक्कड़ मिजाज दिल से फकीर दारा शिकोह सन 1657 में जब औरंगजेब सत्ता हथियाने के पैंतरे चल रहा था दारा शिको फारसी शायरी इतिहास संस्कृत भाषा और योग में रुचि दिखा रहे थे सन सोलह में ही उन्होंने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया इसे सिर अकबर या सिर्रुल असरार के नाम से भी जाना जाता है सिर अकबर का अर्थ है the great mystery Dara Shikoh ने कई और किताबें लिखी जैसे मजमूल बहरीन इसमें हिंदुत्व और इस्लाम का मेल दर्शाया गया है रिसाला हकनुमा हसनतुल आरिफीन सफीनतुल औलिया सकीनतुल औलिया सवालो जवाब दारा शिकोह और बाबा लाल दास उनके अन्य ग्रंथ हैं उनकी कविताएं दीवाने दारा में उपलब्ध हैं दारा शिकोह का मत था इस्लाम और हिंदू धर्म जुड़वा बेटों जैसे हैं जैसे एक ही सिर के अलग अलग बाल मेरे लिए सोमनाथ और काबा दोनों बराबर हैं दारा शिको बदन पर साधारण कुर्ता जिस पर एक भी हीरा पन्ना मोती नहीं गले में मामूली सी नारंगी चादर यह किसी सल्तनत का शहजादा नहीं बल्कि ईश्वर के रंग में रंगा एक फकीर था दारा जब इश्क हकीकी की ओर बढ़ रहे थे औरंगजेब ने बीमार शाहजहां को कैद कर लिया ऐसे में उदास और गमगीन दारा शिको का हाथ अपने हाथ में लेकर बहन जहां आरा बोली भाईजान कहो आपा हमारा यही मशवरा है कि उठो ताज पहनकर तख्ते ताउस पर बैठो करो मनसबदारों से तोहफे कबूल करो और और सल्तनत को पारा पारा होने से बचा लो आपा कसम परवरदिगार की हमारा दिल कहता है जिल्ले सुबहानी से हतियाब होंगे लेकिन भाईजान रोशन आरा और औरंगजेब एक हो गए हैं आप उनकी चालों को समझें और इससे पहले कि देर हो जाए सल्तनत संभाल लें और जब अब्बा हुजूर को पता चलेगा कि उनकी उस औलाद ने जिसको उन्होंने सबसे ज्यादा चाहा औलाद ने उनकी बदहाली का नाजायज फायदा उठाकर ताज पहन लिया तो हबा तख्ते ताउस के लिए यह कीमत बहुत ज्यादा है हम न दे सकेंगे ये कीमत हबा मोहब्बत को वक्त दीजिए औरंगजेब भी मोहब्बत की पनाह में आ जाएगा हौसला रखिए लेकिन ऐसा हो न सका औरंगजेब मोहब्बत की पनाह में नहीं बल्कि नफरत की गिरफ्त में आ चुका था एक शांति प्रिय शहजादा युद्ध को मजबूर हुआ ग्यारह मार्च सन सोलह को अजमेर के निकट देवराई की घाटी में वर्षों चुपचाप युद्ध की तैयारी करने वाले औरंगजेब से दारा शिको की पराजय हुई फिर भी दारा औरंगजेब के हाथ नहीं आया था लेकिन भोले भाले दारा शिको को एक विश्वास पात्र व्यक्ति जीवन खान ने धोखा दिया और उसे औरंगजेब के हवाले कर दिया सन सोलह सोनस 29 अगस्त से 8 सितंबर के बीच दारा शिकोह को कैदी बनाकर दिल्ली के कूचाओ बाजार में घुमाया गया पैरों में जंजीर फटा कंबल कमर में लपेटे पश्मीने का फटा दोशाला कंधे पर डाले दारा अब एक मशहूर भिखारी था काई में लिपटी मैली कुचैली हथनी पर बैठाकर जब दारा को चांदनी चौक में घुमाया जा रहा था तो लोग दिल दहलाने वाला ये मंजर देखकर चुप ना रह सके खूब चुप आपस में बात करने लगे जिनमें एक दृष्टिहीन सूफी फकीर भी था शाही जुल्म है ये शाही जुल्म है हर दिल अजीज दारा का ये हाल देखा नहीं चाहता देख। या खुदा नेक नियतों पर ये कहर हाँ। अरे भाई बहुत बुरा अरे भाई मुझे मुझे मेरे दारा से मिलने दो भाई हाँ। अरे मेरा दारा कहाँ है बाबा कोई बताओ ना बाबा आप देख नहीं सकते कहीं हथनी के नीचे ना आ जाए अरे देख ली दयानत उसकी अब दुनिया को क्या देखूं इंसाफ क़यामत का वो दिन तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूँ हाँ, हाँ, क्या बात है बहुत बहुत बात अरे ये तो मेरे बाबा फकीर हैं ए फकीर कहाँ चला हो दिखता नहीं है क्या पीछे पीछे अरे अरे सुनो भाई सुनो मुझे मुझे मेरे दिल के सुल्तान से कुछ कहना है तो ये हाँ। आप हैं फकीर बाबा दुनिया के फकीर और खुदा के मुंह लगे कहिए बाबा ये गरीब आपकी क्या मदद कर सकता है तुम गरीब हो तो ये जालिम क्या है क्या तुम्हारी रहमतों का दरिया सूख चुका है मेरे सुल्तान नहीं बाबा ये पश्मीने का दुशाला है इसे ही रख लो आज तुम्हारे सुल्तान की औकात यही रह गई ए, ए कैदी ये क्या कर रहा है तू तू जानता नहीं कैदी किसी को भीख नहीं दे सकता रख दे दुशाला यहां और ये फकीर तू भाग यहां से देखा मिया हमारे सिपाही जनाब बहादुर खान कोकलतश कितने उसूल परस्त हैं ए फकीर हमारी फकत दुआ तो लेता जा हकीकी आशिकी में यूं दुआएं काम आती हैं खुदी से दूर हो जितना खुदा के पास लाती है और फिर औरंगजेब ने दारा शिकोह पर ला मजहब यानी धर्म विहीन होने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया और काजी फजलुल हक ने उसे मौत की सजा सुनाई दारा और उसके बेटे सिपहर शिकोह की निर्मम हत्या के बाद दोनों को हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया दारा शिकोह विभिन्न धर्मों का मिलन बिंदु ढूंढते ढूंढते अपने दौर से बहुत ज्यादा आगे निकल आए थे इंसानियत और प्रेम की भावनाएं रखने वाले दारा को हिंदुस्तान के इतिहास में काला गुलाब कहते हैं न राही इश्क पे चलते जो हम तो क्या होता निगेबा मेरा खुदा है न पता होता जमी की खाक को फलक यूं अता करने वाले जहां बेमुरबत को भी तो पता अपना दिया होता साजिश जो आदमी है आदमी से डर रहा है साजिशे खुदा की राह में ये कौन बेहयाई कर रहा है साजिशे मजहब सूरतों को भर रहा है साजिशें तारा तेरी कोशिश तो थी के इश्क होना चाहिए हमारा शिकोह मुगल इतिहास का एक भूला बिसरा शहजादा अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम विषय संयोजन शोध एवं शोध आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह आभार दारा शिको पुस्तकालय दिल्ली और उर्दू विभाग एन कलाकार अश्वनी वालिया सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर राम मैनी विद्याभूषण राजेश आहूजा प्रवीण शर्मा नीरज शर्मा मुइनुल हसन परवेज़ गौहर सादिया रहमान और तारक संगीतकार हरभजन सिंह गायन स्वर देवाशीष और आदित्य ध्वनियांकन अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंगडॉ आलेख ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति C I E T N C E R T